क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह के आगे वो सब सजदा करते हैं जो आसमानों में हैं और वो सब जो जमीन में हैं नीज सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी और बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर अजाब तय हो चुका है और जिसे अल्लाह जलील करते कोई नहीं है जो उसे इज्जत दे सके यकीनन अल्लाह वही करता है जो चाहता है